परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रेम के सागर प्रीति पढ़ाने वाले परमात्मा प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों परमात्मा के संबोधनों के माध्यम से परमात्मा के स्वरूप को और अधिक समझने का मन में बैठाने का हम प्रयास कर रहे हैं आर्याभिविनय के प्रथम प्रकाश के प्रथम मंत्र में महर्षि दयानंद ने परमात्मा को जिन अनेक शब्दों से संबोधित किया है उनमें अगला संबोधन है हे प्रीति साधक प्रीति का मतलब होता है प्रेम स्नेह किसी के प्रति इच्छा का भाव निकटता का भाव आत्मीयता का भाव अपनेपन का भाव परमात्मा प्रीति का साधक है प्रीति को सिद्ध करने वाला है हर आत्मा प्रीति को चाहता है यद्यपि हर आत्मा का हर मनुष्य का किसी न किसी के साथ अप्रीति का भाव बन जाता है बनता रहता है किसी वस्तु के साथ किसी व्यक्ति के साथ किसी स्थान के साथ किसी विचार या पुस्तक के साथ किसी जीवन शैली के साथ कभी किसी समय अप्रीति का भाव भी पैदा होता है और प्रीति का भाव भी होता है तो भले ही कितनी भी हमारे अंदर अप्रीति उपस्थिति हो समय समय पर लेकिन फिर भी हम चाहते प्रीति को ही है जैसे ही अप्रीति का भाव आता है मन अशांत होता है हम उसे अनुकूल नहीं समझते हमें वो अनुकूल प्रतीत नहीं होता है भले ही हम कितनी अप्रीति में जीते रहें वैर से जीते रहें वैर को पनपाने का काम करते रहें बढ़ाते रहें लेकिन फिर भी यदि दोनों स्थितियों में हमें चुनने को कहा जाए कि इस व्यक्ति इस संस्था इस वस्तु से आपको अप्रीति है यदि प्रीति भी हो जाए आपके पास दो विकल्प हो कि प्रीति हो या अप्रीति हो तो आप किसको चुनेंगे तो मनुष्य कभी भी अप्रीति को नहीं चुनेगा प्रीति को ही चाहता है जिन कारणों से अप्रीति बनी हुई है उन कारणों को यदि हटा दिया जाए तब भी क्या आप अप्रीति करना चाहेंगे अप्रीति में रहना चाहेंगे क्या आप अप्रीति के कारणों को हटाना चाहते हैं हटवाना चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा हां इसके प्रति मेरी अप्रीति है जिस कारण से अप्रीति है ये हटना चाहिए ये प्रतिकूलता हटनी चाहिए ये हट जाए तो मुझे प्रीति करने में कोई आपत्ति नहीं है अप्रीति के कारण बने रहें और अप्रीति बनी रहे एक पक्ष और विकल्प दिया जाए कि आपको अप्रीति के सब कारण हटा दिए जाएंगे आपको जिस जिसमें जिन कारणों से अप्रीति है वो सब आपके हटा दिए जाएंगे सामने वाला समस्त कारणों को हटाने को तैयार हो उस स्थिति में तो दोनों में से कौन सा हम चाहेंगे तो प्रीति को ही चाहेंगे तो ये आत्मा का स्वभाव है क्योंकि अनुकूलता में उसे सुख होता है और प्रतिकूलता में उसे दुख होता है क्षोभ होता है और प्रतिकूलता क्षोभ होने पर वै मनस्य दौर मनस्य अरुचि अप्रीति ये उत्पन्न होते हैं तो मनुष्य या कोई आत्मा प्रीति अप्रीति दोनों में रहता है और ये आत्मा की अपनी सुख के प्रति इच्छा और दुख के प्रति अनिच्छा अप्रीति स्वाभाविक है ये कभी हट नहीं सकती ये सदा बनी रहेगी जब ये स्वाभाविक है प्रीति और अप्रीति का होना तो परमात्मा प्रीति का साधक कैसे है महर्षि ने यहां परमात्मा को संबोधन दिया कि हे परमात्मा आप प्रीति के साधक हैं प्रीति को सिद्ध करने वाले हैं प्रीति को बनाने वाले हैं प्रीति की रक्षा करने वाले हैं तो यदि हम आत्मा के स्वभाव पर ध्यान दें तो आत्मा की जो प्रीति या अप्रीति होती है इच्छा या द्वेष होता है वो मात्र अनुकूल और प्रतिकूल पर निर्भर करता है जिसमें भी उसे अनुकूलता प्रतीत होगी वो वस्तु अनुकूल है या नहीं वो अलग बात है लेकिन उसे अनुकूलता की प्रतीति हो रही है तो वो उसे सुख का साधन दिखाई देगा अनुकूलता की अनुभूति ये सुख है और उसके प्रति वो प्रीति करेगा और जिसमें प्रतिकूलता की प्रतीति हो रही है वो वस्तु प्रतिकूल हो या ना हो वो अलग बात है लेकिन प्रतिकूलता की प्रतीति हो रही है तो उसके प्रति अप्रीति द्वेष होगा क्योंकि वो उसके दुख का कारण बनेगा उसे उसमें दुख प्रतीत होगा तो आत्मा की प्रीति और अप्रीति वास्तव में सुख और दुख पर निर्भर है जिसमें सुख उससे प्रीति जिसमें दुख उससे अप्रीति और सुख और दुख प्रतिकूलता और अनुकूलता के ही नाम है दूसरे शब्दों में इनमें कारण कार्य संबंध भी है यदि अनुकूलता है तो सुख आएगा लेकिन अनुकूलता किसमें है ये किसने निर्धारण किया है किसमें अनुकूलता है आत्मा का क्या स्वभाव है अनुकूल होगा तो सुख आएगा ठीक है लेकिन किसी आत्मा को मनुष्य को क्या अनुकूल है किसी मनुष्य या आत्मा को क्या प्रतिकूल है इसका निर्धारण किसने किया है एक गाय को क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है इसका निर्धारण किसने किया है आत्मा तो मनुष्य में भी है आत्मा तो गाय में भी है आत्मा तो चिड़िया में भी है आत्मा तो कीड़े मकोड़े में भी है आत्मा तो मछली में भी है मछली को जल में अनुकूलता लगती है इसलिए उसे वहीं सुख लगेगा और मछली को यदि पानी से बाहर निकाल दिया जाए भूमि पर जहां की और बहुत सारी आत्माएं विभिन्न शरीरों को धारण किए सुखी हैं उसे प्रतिकूलता लगती है एक आत्मा को उस स्थिति में प्रतिकूलता लग रही है एक आत्मा को उसी स्थिति में अनुकूलता लग रही है कारण आत्मा का स्वभाव तो कारण नहीं हो सकता आत्मा का जो स्वभाव है वो तो सर्वत्र समान है ये अनुकूलता और प्रतिकूलता शरीर की रचना के अनुसार है हर व्यक्ति के जीवन चलने में क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है उस पर निर्भर करता है जिस पानी में मछली बहुत सुखी होकर के विचरण करती है वहां यदि किसी मनुष्य को अंदर डाल दिया जाए तो तड़प जाएगा मर जाएगा जो हाल मछली का बाहर होता है वैसा अन्य प्राणियों का जो वायु में रहते हैं धरती पर रहते हैं उनका जल में होगा हमें जो अनुकूलता प्रतीत होती है इस शरीर के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है इसका निर्धारण हमने नहीं किया है हम तो अनुकूलता प्रतिकूलता से होने वाले सुख और दुख को अनुभव करते हैं बस मूलभूत जन्मजात जो अनुकूलता और प्रतिकूलता है किसी भी जीव को वो परमात्मा की तरफ से की गई है और उस अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पर ही विभिन्न प्राणी प्रीति और अप्रीति करते हैं तो जिन चीजों में हमें हमारे जीवन की अनुकूलता लगती है उसमें हमें सुख लगेगा और ये परमात्मा ने किया है जिन चीजों से हमारा जीवन चलता है जो वस्तुएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं उनमें परमात्मा ने प्रीति पैदा की है जो चीजें जीवन के लिए आवश्यक हैं उनको करने में हमें बहुत प्रयत्न भी करना पड़ता है कष्ट भी होता है मकान बनाने में रोटी बनाने में भोजन की व्यवस्था करने में नहाने धोने में इन सब में प्रयत्न होता है बहुत प्रयत्न होता है और उस प्रयत्न में कष्ट भी होता है लेकिन फिर भी भोजन के प्रति भवन के प्रति हमारी प्रीति है हमारी इंद्रियां हमारा शरीर ऐसा बनाया गया है कि हमें भोजन के प्रति प्रीति होगी ये प्रीति किसने पैदा की है ये परमात्मा ने पैदा की है यदि परमात्मा इन वस्तुओं के प्रति हमारी प्रीति पैदा नहीं करता तो हमारा जीवन उतना अच्छा नहीं होता जैसा आज है बच्चे के प्रति मां के अंदर प्रीति किसने पैदा की है बच्चे के प्रति पिता के मन में और परिवारजनों के मन में प्रीति किसने पैदा की है यद्यपि वहां हर आत्मा आत्मा चेतन है सोचता है समझता है लेकिन स्वभावतः जो प्रीति होती है वो स्वभावतः बच्चों की रक्षा करते हैं स्वभावतः बच्चों के लिए कष्ट सहते हैं अगर केवल अनुकूलता प्रतिकूलता की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों के लालन पालन में बहुत प्रतिकूलता होती है बच्चों को उत्पन्न करने में बहुत प्रतिकूलता भी होती है लेकिन फिर भी चूंकि ये आवश्यक कार्य है भोजन बनाने में बहुत प्रतिकूलता लगती है लेकिन फिर भी ये आवश्यक कार्य है इसमें प्रीति पैदा की गई है ये परमात्मा ने पैदा की है यदि जीवन में प्रीति को समाप्त कर दिया जाए तो चाहे कोई सांसारिक लौकिक जीवन जी रहा हो चाहे आध्यात्मिक जीवन जी रहा हो वो जीवन जीवन नहीं रहेगा कितना भी आध्यात्मिक व्यक्ति हो ईश्वर को मानता हो या ना मानता हो प्रीति की चाह प्रीति की स्थिति तो सब चाहते हैं और जो व्यक्ति संसार से वैराग्य करके घर परिवार वालों को छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति में लगता है वो भी परमात्मा के प्रति बहुत प्रीति चाहता है उस प्रीति को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करता है क्योंकि उस प्रीति में उसे सुख मिलता है आत्मा भले ही स्वभावतः सुख को चाहता हो दुख को न चाहता हो प्रीति और अप्रीति गुणों से युक्त हो लेकिन उन प्रीति और अप्रीति का निर्धारण व्यवस्था वो आत्मा नहीं करती है यदि आत्मा के आधार पर ही होता तो सब की प्रीति और अप्रीति बाह्य रूप से एक ही जैसी होती अंदर से तो एक जैसी है अनुकूलता सुख को सब चाहते हैं प्रतिकूलता दुख को कोई नहीं चाहता लेकिन बाहर से जो भिन्नता है मनुष्यों में भी परस्पर और भिन्न भिन्न प्राणियों में जो स्वाभाविक प्रतिकूलता अनुकूलता है वो परमात्मा के द्वारा शरीर के कारण जो स्वाभाविक है वो परमात्मा के द्वारा पैदा की गई है अब फिर हम अपने ज्ञान के अनुसार पिछले अनुभव के अनुसार उस प्रीति और अप्रीति को घटाते बढ़ाते रहते हैं संसार में बहुत झगड़े हमें दिखाई देते हैं जगह जगह झगड़े दिखाई देते हैं राष्ट्रों के बीच में झगड़े दिखाई देते हैं राज्यों के बीच में परिवार परिवार में पड़ोसी पड़ोसी में और घर घर में पति पत्नी में भाई बहन में माता पिता में बच्चों के साथ हर जगह तो झगड़े दिखाई देते हैं इसलिए लोग कहने लगते हैं कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जहां झगड़ा नहीं हो कोई पति पत्नी ऐसे नहीं है जहां झगड़ा नहीं हो अपवाद स्वरूप कोई हो सकता है उसको एक स्वाभाविक अंग माना गया है इतने झगड़े होते हुए भी न्यायालयों में कितने झगड़े चल रहे हैं और झगड़े तो होंगे क्योंकि कोई भी अन्याय करेगा तो दूसरा प्रतिरोध करेगा कोई अन्याय पूर्वक लेना चाहेगा तो वो झगड़ के ही ले सकता है वैसे तो बहुत मुश्किल है झगड़ा तो होगा विरोध तो होगा लेकिन इसके बाद भी परिवार बंधे हुए हैं पड़ोसी बंधे हुए हैं ये समाज इकट्ठा समूह चल रहा है सड़कों पे आना जाना ये व्यवस्था बंधी हुई है बनी हुई है हमारे बच्चे एक साथ विद्यालयों में जाते हैं एक साथ बैठते हैं कक्षाओं में पढ़ते हैं चिकित्सा के लिए चिकित्सालयों में हम एक स्थान पर जाते हैं ये सब बंधन फिर भी बना हुआ है इतना विरोध होते हुए भी हम बहुत सामंजस्य पूर्वक बहुत सारे कार्य करते हैं विरोध और सामंजस्य को यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए पूरे जीवन में या प्रातःकाल से लेकर सायकाल तक अधिकांश क्रियाएं हमारी सामंजस्य से ही चल रही हैं सामंजस्य है, इसीलिए चल रही हैं सामंजस्य है, है इसीलिए हम साथ रह पा रहे हैं प्रतिकूलताएं है, कम है विरोध कम है ये विरोध परमात्मा के पैदा किए हुए नहीं है परमात्मा तो प्रीति का साधक है उसने प्रीति का उपदेश दिया है उसने व्यवस्थाएं प्रीति के अनुरूप की हैं इसलिए महर्षि ने परमात्मा को लिखा हे प्रीति साधक और हम परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं प्रीति के लिए प्रयत्न करते हुए भी कभी अप्रीति होती है तो परमात्मा से भी वहां प्रार्थना की जा सकती है कि मैं प्रीति को ही चाहता हूं प्रीति ही हमारे बीच में बनी रहे और परमात्मा का सहयोग प्रीति करने वालों को मिलता है परमात्मा प्रीति का साधक है तो प्रीति करने वालों को सहयोग क्यों नहीं करेगा जब परमात्मा अंदर से आनंद उत्साह देता है तो प्रीति करते हैं तो आनंद उत्साह आता है अप्रीति करते हैं द्वेष करते हैं तो भय शंका लज्जा उत्पन्न होती है अनुत्साह आएगा क्षोभ होगा परमात्मा की अंत प्रेरणा भी प्रीति को बढ़ाने वाली है परमात्मा के वेद के उपदेश भी प्रीति को बढ़ाने वाले हैं और जो परमात्मा के भक्त हैं वो भी इस बात से प्रेरित होते हैं कि हम प्रीति को ही बढ़ावें समाज में राष्ट्र में परिवार में प्रीति बढ़े इसी के लिए प्रयत्न करते हैं इसी के लिए उपदेश होता है तो परमात्मा प्रीति को बढ़ाने वालों का सदा साधक है समर्थक है ये विश्वास रखते हुए हम प्रीति के लिए प्रयत्न करें ये ठीक है कि प्रीति का प्रयत्न करने पर भी प्रीति हो ही जाए पूरे संसार में सबकी सबसे प्रीति हो जाए ये आवश्यक नहीं है असंभव ही है ये लेकिन प्रयत्न प्रीति का चलता रहे परमात्मा की सहायता का विश्वास अंदर बना रहे परमात्मा प्रीति का साधक है इस रूप में परमात्मा को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे ओ